तीन दिनों में सत्य की खोज में और उस रास्ते पर किन बाधाओं को मनुष्य दूर करे किन सीढ़ियों को चढ़े और किन बंद द्वारों को खोले उस संबंध में बहुत सी बातें हुई हैं बहुत से प्रश्न भी उस संबंध में पूछे गए हैं आज की रात उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा जो शेष रह गए सबसे पहले अनेक प्रश्न पूछे गए हैं कि हजारों वर्षों से हजारों लोग जिन बातों को मान रहे हैं मैं उन बातों को गलत क्यों कहता हूं जिन बातों को इतने लोग सही मानते हो क्या वे बातें गलत हो सकती हैं क्या इतनी पुरानी परंपराएं रूढ़िया जिन्हें हम सदा से मानते रहे हैं भूल भरी हो सकती हैं एक छोटी सी कहानी इस प्रश्न के उत्तर में कहूं उस कहानी से कुछ बात ख्याल में आ सकेगी और कुछ उसके पीछे एक राजा के दरबार में एक अजनबी अपरिचित आदमी आया और उस आदमी ने आके राजा को कहा तुमसे बड़ा सम्राट पृथ्वी पर दूसरा नहीं है और न ही इतिहास को ज्ञात है कि कभी तुमसे बड़ा कोई सम्राट हुआ हो राजा प्रसन्न हुआ जैसे कि कोई भी प्रसन्न होता और उस आदमी ने कहा लेकिन तुम जैसे महान सम्राट के लिए आदमियों जैसे कपड़े पहनना शोभादायक नहीं मैं तुम्हारे लिए देवताओं के वस्त्र ला सकता हूँ राजा ने कहा कुछ भी खर्च हो जाए कितनी भी संपदा लगे लाओ तुम देवताओं के वस्त्र उस आदमी ने कहा पहली बार ही पृथ्वी पर देवताओं के ये वस्त्र उतरेंगे तुम्हारे लिए लेकिन बहुत खर्च करना होगा राजा के पास कोई कमी न थी उसने खर्च का वचन दिया राजा के सभी दरबारी चिंतित हुए वे समझ गए कि कोई चालाक आदमी राजा को धोखा दे रहा है देवताओं के वस्त्र आज तक न देखे गए और न सुने गए छह महीने का वचन दिया उस आदमी ने और छह महीने हर दो चार दिन में आके दस पांच हजार रूपए वो ले जाता रहा देवताओं को रुष्पत खिलानी थी और कई दफ्तर के काम निपटाने थे तब देवताओं तक पहुंचना हो सकता था अंतिम तिथि आ गई जब उसने वचन दिया था कि वो वस्त्र लेके आ जाएगा राजा के दरबारी प्रतीक्षा में थे कि आखिर में तो वो फंसी जाएगा उस दिन उसके घर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया कि कहीं वो भाग ना जाए लेकिन वो भागने को नहीं था ठीक समय एक बहुत खूबसूरत पेटी में बंद ताला डालकर वो बाहर निकला लोग निश्चित हुए जरूर वो वस्त्र ले आया था राज दरबार में वे वस्त्र पहुंचे सैकड़ों लोग राजा के द्वार पर इकट्ठे हो गए थे देवताओं के वस्त्र कभी देखे न गए थे दरबारी हैरान थे लेकिन अब शक करने की कोई बात बनी थी वो आदमी पेटी लेकर आ ही गया था उसने राज दरबार में जाकर पेटी रखी उस दिन दरबार सजा था और महल ज्योतियों से दीपायमान किए गए थे राजा बैठा था अपने सिंहासन पर इस खुशी में कि पहला मनुष्य होगा वो जो देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहने का उस आदमी ने पेटी का ताला खोला ताला खोल के वो खड़ा हुआ और उसने कहा मित्रों एक बात सूचना कर दूं जो देवताओं ने मुझसे कही है तो उन्होंने कहा है कि ये वस्त्र केवल उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो ठीक अपने ही पिता से पैदा हुए हो ये वस्त्र सभी को दिखाई पड़ने वाले नहीं ये देवताओं के वस्त्र ये कोई सामान्य आदमियों के वस्त्र नहीं उसने पेटी खोली उसने कुछ उसके भीतर से निकाला हाथ तो उसका खाली आया और उसने राजा से कहा अलग कर दीजिए अपना कोट और पहनिए ये कोट देवताओं का राजा को भी हाथ खाली दिखाई पड़ा दरबारियों को भी हाथ खाली दिखाई पड़ा लेकिन बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी सारे दरबारी ताली पीटने लगे और कहने लगे इतना सुंदर कोट हमने कभी देखा नहीं राजा ने सोचा अगर मैं ये कहूं कि कोट दिखाई नहीं पड़ता तो व्यर्थ ही पिता के ऊपर संदेह हो जाए खुद तो उसे संदेह हो ही आया क्योंकि पूरे दरबारी कह रहे थे ओफ अद्भुत और एक दूसरे से आगे बढ़े जा रहे थे प्रशंसा में कोट की राजा ने सोचा पिता तो मेरा संदिग्ध हो ही गया अब व्यर्थ इस बात को खोलने से क्या फायदा है इस कोट को पहन ही लो जो कि था ही नहीं उसने अपना कोट निकाल दिया जो कि था और वो कोट पहना जो कि नहीं था धीरे धीरे एक एक वस्त्र निकाले जाने लगे राजा नंगा होने लगा एक एक वस्त्र पेटी से वो निकालने लगा उसने कहा ये पहने पाजामा ये पहने टोपी ये फला ये ढिका कुछ भी न था हाथ खाली था राजा के अपने वस्त्र छिनने लगे राजा धीरे धीरे नंगा खड़ा हो गया केवल अधोवस्त्र रह गया अंडरवियर रह गया अंत में उस आदमी ने निकाला अंडर बियर हाथ में कुछ भी न था उसने कहा ये ले और पहने अब लेकिन मजबूरी थी दरबारी ताली बजा रहे थे और कह रहे थे ऐसे वस्त्र तो कभी देखे नहीं और सब एक दूसरे से आगे थे ताली बजाने क्योंकि कोई भी अपने पिता पर संदेह करवाने के लिए तैयार न था प्रत्येक को दिख रहा था हाथ खाली है पेटी खाली लेकिन जब से सारे लोग कह रहे हो तो कौन मुफ्त अपनी मुसीबत मोल ले जब सब कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे जब इतने लोग कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे ये तर्क तो स्पष्ट था राजा का अंडरवियर भी छिन गया वो पूरी तरह नदी खड़ा हो गया और सारे लोगों ने तालियां बजाई और कहीं धन है महाराज ऐसे वस्त्र पृथ्वी पर कभी नहीं देखे गए राजा भी बोला मैं भी हैरान हूँ इतने आनंदपूर्ण मालूम हो रहा है इन्हें पहनकर ऐसा कभी भी मालूम न हुआ था उस आदमी ने जो इन वस्त्रों को लाया था उसने कहा महाराज ये वस्त्र पहली दफा उतरे हैं देवताओं ने कहा था राजा का जुलूस निकाल देना उस राजधानी में उस दिन उस नंगे राजा का जुलूस निकला गांव भर में खबर पहुंच गई कि वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जिसका पिता संदिग्ध न हो और गांव भर में सभी को वस्त्र दिखाई पड़े रास्तों पर लोगों ने तालियां बजाई फूल फेंके और कहा धन है धन है ऐसे वस्त्र ऐसे वस्त्र कभी नहीं देखे गए उस गांव में उस दिन दूसरे गांव से एक अजनबी युवक भी आया हुआ था उसे इस घोषणा की कोई खबर न थी वो भी भीड़ में खड़ा हुआ था वो हैरान हो गया वो चिल्लाया क्या तुम सब पागल हो गए हो ये राजा नंगा है लेकिन लोगों ने कहा पागल है तू देखता नहीं इतने लोग जिस बात को कहते हैं वो सच होती तेरे अकेले को कौन मानेगा पागल है तू और तुझे पता नहीं कि अनजाने ही तूने ये भी बता दिया कि तेरे पिता संदिग्ध है हम सब अपने पिताओं के पुत्र हमें वस्त्र दिखाई दे रहे हैं उस राजधानी में जो हुआ था पूरी मनुष्य जाति के साथ इधर पांच छह हजार वर्षो में हुआ है जिन बातों की कोई सच्चाई नहीं है वे केवल भीड़ की मान्यता के आधार पर सच होकर खड़ी और हर आदमी जानता है कि वे झूठ हैं लेकिन कौन आदमी अपने ऊपर संदेह करवाए जब सारे लोग कह रहे हैं कि सच है तो उसे भी मान लेना होता है कि सच होंगी एक आदमी एक एक आदमी जानता है बहुत गहरे में असत्य क्या है लेकिन भीड़ भीड़ कहती यही सत्य और भीड़ भीड़ की संख्या भीड़ का बल और हजारों साल से पैदा हो जाने से भीड़ की ताकत वो एक एक आदमी को डरा देती है कि मैं अकेला इस सागर के सामने क्या कहूँ कौन सुनेगा और वो कहेगा भी तो कोई सुनने को नहीं है यद्यपि प्रत्येक दूसरे आदमी की स्थिति भी यही है वो भी जानता है कि सरासर झूठ लेकिन झूठ भी बहुत दिन दोहराए जाने से और बहुत लोगों के दोहराए जाने से सच जैसे प्रतीत होने लगते हैं अडल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है ऐसा कोई झूठ नहीं है जिसे निरंतर दोहराया जाए तो जनता के लिए वो सच न हो जाए और उसने लिखा है कि ये मैं कोई बातचीत और सिद्धांत नहीं कह रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ मैंने निरंतर न मालूम कितने प्रकार के झूठ बोले लेकिन ठीक से प्रचार किया लोगों को समझाया और वो सच हो गए मैं खुद ही बाद में हैरान हो गया इतने लोग जब मानते हैं तो ठीक ही होगा मुझको कैसा लगने लगा जो कि मैंने ही झूठ बोले थे जिनकी शुरुआत मुझसे हुई थी और मैं जानता हूं कि वो निरंतर असत्य बातें थी लेकिन जब सारा मुल्क मानने लगा तो मुझको तक हुआ कि कहीं मैं भूल में तो नहीं जब इतने लोग मानते हैं तो ठीक ही मानते होंगे कोई भी असत्य प्रचार के माध्यम से सत्य हो सकता है तो जिनको आप कहते हैं हजारों वर्षों से हम मानते हैं आपके हजारों वर्षों से मानने से कोई चीज सच नहीं हो जाती इससे केवल इतना पता चलता है कि हजारों वर्ष तक प्रचारित होने से कोई भी चीज सच मालूम होने लगती और आप कहते हैं हम इतने लोग मानते हैं हमारी भीड़ इतनी है इतनी संख्या है संख्या से सत्य का क्या संबंध सत्य कोई डेमोक्रेटिक कोई लोकतांत्रिक पार्लियामेंट थोड़ी है कि वहां अपने हाथ उठा दिए तो सत्य का निर्णय हो जाएगा कि जिनके पक्ष में ज्यादा हाथ है वो जीत जाएंगे कोई लोकतंत्र नहीं है सत्य सत्य कोई भीड़ की आवाज और हाथों का उठाया जाना नहीं उसका निर्णय कोई मत से नहीं होता पुराने होने से कोई चीज सच नहीं हो जाती और न नए होने से कोई चीज झूठ हो जाती ये कोई कसौटिया नहीं है फिर मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि जो कुछ भी आप मानते हैं वो असत्य है मैंने ये कहा है मानना असत्य है और इन दोनों बातों में भेद है मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि जो कुछ आप मानते हैं असत्य है मैं क्यों कहूं मुझे क्या प्रयोजन मैंने आपसे ये कहा है मानने वाली बुद्धि असत्य है विचार करने वाली बुद्धि सत्य है जो मान लेता है और विचार नहीं करता है उसकी बुद्धि असत्य है उसकी चित्त की दशा असत्य है वो फिर जो भी मान ले वो भी असत्य होगा जिन चीजों पर आपने कभी सोचा नहीं खोजा नहीं उन्हें किस भांति मान लिया है क्यों मान लिया है सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग मानते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत लोग स्वीकार करते हैं ये जो स्वीकृति है बहुत लोगों के आधार पर खड़ी हुई यही मनुष्य के चित्त पर सबसे बड़ा बंधन है और जिस व्यक्ति को सत्य की खोज में निकलना हो उसे मान्यता के बिलीफ के विश्वास के सारे बंधन तोड़ देने पड़ते हैं उसे अपने चित्त को मुक्त करना होता है मान्यता से ताकि वो जान सके जो मानता है वो जानने से वंचित रह जाता है जो दूसरे पर विश्वास कर लेता है उसकी खुद की खुद की खोज समाप्त हो जाती है और जो इस भांति स्वीकार करता है वो अंधा है और अंधे के लिए सत्य का दर्शन असंभव है आंख चाहिए विचार करने वाली खोजने वाली सोचने वाली चिंतन करने वाली स्वतंत्र निष्पक्ष बुद्धि चाहिए विश्वासी की बुद्धि निष्पक्ष नहीं होती विश्वासी की बुद्धि पक्षपात ग्रस्त होती है प्रजुलिस्ट होती है और जो पक्षपात से भरा है वो कभी निष्पक्ष होकर सोच नहीं पाता और जो निष्पक्ष होकर नहीं सोच पाता है वो कैसे उपलब्ध हो पाएगा उसे जो की सत्य है ये सवाल नहीं है कि कितने वर्षों से कोई बात दोहराई जा रही है हजारों ऐसी मूढ़ताएं हैं जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है जमीन को हजारों वर्षों तक गोल माना जाता था नहीं माना जाता था चपटी माना जाता था फिर एक दिन जिस आदमी ने कहा जमीन गोल है लोगों ने कहा माफी मांग लो ऐसी बात कभी मत कहो हजारों वर्षों से जो बात मानी जाती रही है वो सच है उस आदमी को मजबूर किया अदालत में ले जाके कि तुम माफी मांग लो नहीं तो फांसी लगा देंगे वो बेचारा बूढ़ा आदमी था जिसने ये बात कही थी सत्तर साल के ऊपर उसकी उम्र हो गई थी उसे एक गांव से घसीट कर राजधानी तक ले जाया गया था उसे घुटने के बल जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया और कहा मांग लो माफी और कहो परमात्मा से कि मैंने एक झूठी बात कही है क्योंकि जो सब लोग मानते हैं और जो बाइबल तक में लिखा हुआ है कि जमीन चपटी तो तुम कौन हो गोल बताने वाले हो बाइबल तो भगवान के पुत्र की किताब है तो उसमें कहीं झूठ हो सकता है असत्य हो सकता है उस बेचारे ने क्षमा मांग ली लेकिन क्षमा मांगते वक्त उसके मुंह से एक सच्ची बात निकल ही गई उसने कहा कि परमात्मा मैं माफी मांग लेता हूँ और मैं कह देता हूँ कि जमीन चपटी है बोल नहीं लेकिन मेरे कहने से क्या होता है उसने पीछे एक बात जोड़ी लेकिन मेरे कहने से क्या होता है जो है वो है जमीन तो गोली हजारों वर्षों तक हम समझते थे कि सूरज जमीन का चक्कर लगाता है जिस आदमी ने पहली दफा कहा कि नहीं सूरज जमीन का चक्कर नहीं लगाता जमीन ही सूरज का चक्कर लगाती तो बहुत बहुत परेशानी हो गई हमने कहा ये नहीं हो सकता ये कभी नहीं हो सकता हजारों साल तक लोग ना समझे की बात मान सकते थे कि हम रोज आंखों से देखते हैं कि सूरज डूबता है उगता है लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी हमने जाना कि नहीं जमीन ही चक्कर लगाती है सूरज के सूरज नहीं लगाता और कितने ही हजारों वर्षों से ये बात कही गई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सूरज तब भी चक्कर नहीं लगाता था जब हम मानते थे कि चक्कर लगाता था अब भी नहीं लगाता है हमारी मान्यता से सत्य प्रभावित नहीं होता सत्य अपनी जगह है हमारी मान्यता गलत होगी तो हम गलत और अंधेरे में भटकते रहेंगे हमारा बोध स्पष्ट होगा तो हम सत्य के निकट पहुंच जाएंगे सत्य हमारी मान्यता से प्रभावित नहीं होता लेकिन हमारी मान्यता हमको प्रभावित कर देती है और अंधेरे में ढकेल देती है क्या करें इन तीन दिनों में मैंने आपसे ये कहा है अपने विचार को निष्पक्ष मान्यता से मुक्त परंपरा रूढ़ियों से ऊपर उठाना जरूरी है अगर कोई जानना चाहता हो उसे जो की है अगर परमात्मा को खोजना हो तो परमात्मा के नाम से जो जो बताया गया है उसे पकड़ के बैठ रहना खतरनाक है उसे छोड़ देना होगा उसे छोड़ देना होगा इसलिए कि उसका अभी पकड़ना अंधेरे में पकड़ना है और जो उसे पकड़ के तृप्त हो जाता है फिर वो सच्चे परमात्मा की खोज ही नहीं करता उसे कोई जरूरत नहीं रह जाती इसलिए मैंने जोर दिया है कि आपका चित्त निष्पक्ष हो विचारपूर्ण हो जागरूक हो अंधा ना हो विश्वासी ना हो विवेक युक्त हो अब तक कहा जाता रहा है विश्वास धर्म है मैं आपसे कहता हूं विश्वास अधर्म है विश्वास धर्म नहीं धर्म है विवेक धर्म है विचार और चूंकि ये कहा जाता रहा है कि विश्वास धर्म है इसी वजह से धर्म पीछा पड़ गया विज्ञान के मुकाबले हारता चला गया क्योंकि विज्ञान है विचार विज्ञान विश्वास नहीं है इसलिए विज्ञान तो रोज रोज गति करता गया और धर्म सिकुड़ता गया सिकुड़ता गया और सिकुड़ के वो छोटे छोटे डबरों में परिणित हो गया हिंदू का डबरा मुसलमान का डबरा ईसाई का डबरा जैनी का डबरा वो सागर नहीं रह गया वो छोटे छोटे डबरे बन गए और डबरे आप जानते हैं बहुत जल्दी सड़ जाते हैं क्योंकि वो विराट नहीं होते छोटे छोटे होते तो हिंदू मुसलमान के डबरे सब सड़ गए उन सबसे सड़ान उठ रही झगड़े खड़े हो रहे हैं हिंसा और हत्या हो रही है सागर चाहिए धर्म का डबरे नहीं चाहिए धर्म चाहिए हिंदू और मुसलमान और ईसाई नहीं चाहिए एक ऐसी दुनिया चाहिए जहाँ धर्म तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान न रह जाएं क्योंकि हिंदू मुसलमान की वजह से धर्म के आने में बाधा पड़ रही है और हिंदू मुसलमान तब तक रहेंगे जब तक विश्वास है जिस दिन विश्वास की जगह विचार होगा विवेक होगा उस दिन दुनिया में बहुत धर्मों की कोई गुंजाइश नहीं रह जा सकती क्यों नहीं रह सकती इसलिए कहीं हिंदू की केमिस्ट्री अलग होती है मुसलमान की केमिस्ट्री अलग हिंदू की एलोपैथी अलग जैन की एलोपैथी अलग मुसलमान का गणित अलग ईसाई का गणित अलग ऐसा होता है हो सकता है कि हम कहें कि हम तो मुसलमान हैं हमारा गणित अलग होगा हम हिंदुओं जैसा गणित नहीं बना सकते हिंदू अपना गणित अलग बनाए दो दो पांच करें हम तो दो दो चार करेंगे या दो दो तीन करेंगे हम हिंदू तुम मुसलमान हमारा तुम्हारा गणित एक जैसा कैसे हो सकता नहीं लेकिन गणित एक है सारी दुनिया का लेकिन मैं आपको ये बता दूं आज से 500 साल पहले गणित भी अलग अलग थे हिंदुस्तान में जैनियों का गणित अलग था हिंदुओं का गणित अलग था कैसे पागलपन की बात है गणित और अलग अलग हो सकते लेकिन विचार ने खोज की विवेक ने खोज की हम यूनिवर्सल सार्वलौकिक नियमों पर पहुंच गए गणित एक है दुनिया का चाहे कोई कम्युनिस्ट मुल्क में रहता हो चाहे कोई अमेरिका में रहता हो चाहे कोई चीन में रहे चाहे पाकिस्तान में चाहे हिंदुस्तान में गणित एक गणित विज्ञान बन गया गणित विचार के द्वारा उपलब्ध हुआ इसलिए एक हो सका धर्म अनेक क्यों है जब जमीन के कानून एक है और जब पदार्थ के नियम एक है तो आत्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते हैं जब सामान्य पदार्थ के नियम सार्वलौकिक हैं यूनिवर्सल हैं तो परमात्मा के नियम भी अलग अलग कैसे हो सकते हैं वे भी यूनिवर्सल हैं लेकिन हमारे विश्वास के कारण हम उन सार्वलौकिक नियमों को खोजने में असमर्थ हैं हमारा विश्वास हमें रोकता है वो कहता है यही सत्य है तो फिर सत्य की खोज नहीं हो पाती जब तक जमीन पर हिंदू मुसलमानों में बटे हुए होंगे लोग तब तक धर्म नहीं उतर सकता और यही सारे लोग चिल्लाते हैं कि धर्म नष्ट हो रहा है और यही उसके हत्यारे यही सारे लोग चिल्लाते हैं कि दुनिया से धर्म समाप्त हो रहा है धर्म समाप्त तो होगा क्योंकि विश्वास पर खड़ा हुआ धर्म धर्म ही नहीं है लेकिन क्या विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है मैं कहता हूं हाँ विचार पर धर्म खड़ा हो सकता है और जिन लोगों ने भी धर्म को जाना है महावीर ने बुद्ध ने क्राइस्ट ने मोहम्मद ने राम ने कृष्ण ने उन्होंने विश्वास के आधार पर नहीं जाना है अपनी खोज अपना विवेक अपनी चेतना के जागरण से जाना है दुनिया में आज तक जब भी धर्म जाना गया है तब वह एक अत्यंत वैचारिक खोज की तरह जाना गया है अंधे विश्वास की तरह नहीं इसलिए मैं कहता हूं चाहे कितने ही लोग मानते हो और चाहे कितने ही हजारों साल से मानते हो इस बात को अथॉरिटी मत बना लेना कि हजार साल से कोई मानता है इसलिए वो सच्ची बात होनी चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जरूरी रूप से झूठ है मैं ये कह रहा हूं आपका ये मानने का ढंग और तर्क गलत है आप खोजें निजी खोज करें थोड़ा सोचें विचार करें और फिर जो आपको सच मालूम पड़े वो आपके जीवन को बदल देगा लेकिन जब तक हम खोज ही नहीं करते सोचते ही नहीं तब तक हम अंधों की भांति चलते हैं और अंधों की भांति चलना मनुष्य के भीतर छिपे हुए परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है मनुष्य होने की पहली शर्त है स्वयं की चेतना और विवेक के प्रति दायित्व स्वयं की स्वतंत्रता सामर्थ और शक्ति के प्रति समर्पण स्वयं के भीतर जो छिपा है उसकी अथक खोज स्वयं में जो बीज रूप से बैठा है उसे पूर्णता तक पहुंचाने का साहसपूर्ण प्रयत्न मनुष्य होने की मनुष्य होने में ये सब कुछ अंतर्गर्भित है लेकिन जो लोग विश्वास से जीते हैं वे मनुष्य नहीं भेड़ों की भांति हो जाते मैंने एक घटना सुनी एक छोटे से स्कूल में एक अध्यापक अपने बच्चों को गणित के पाठ पढ़ा रहा था और उसने कहा वो गांव गड़रियों का गांव था जहां बहुत भेड़े थी तो उसने गांव के उन बच्चों को समझाने के लिए कहा एक छोटी सी बगिया में बारह भेड़े बंद हैं अगर उनमें से छह भेड़े छलांग लगा के बाहर निकल जाए तो भीतर कितनी बचेंगी एक बच्चे ने हाथ उठाया वो बच्चा बहुत छोटा था शिक्षक ने कहा हाँ बोलो आज तुमने पहली बार ही हाथ उठाया उसने कभी हाथ नहीं उठाया वो बहुत छोटा था और नया नया स्कूल में आया था उसने कहा और बाबत और प्रश्नों के बाबत मैं जानता नहीं था इसलिए चुप रहा लेकिन इस बाबत जानता हूँ आपने क्या कहा उसने अपना प्रश्न दोहराया बारह भेड़े बंद हैं छह भेड़े छड़ांग लगा के बाहर निकल गई भीतर कितनी बचेंगी उस लड़के ने कहा एक भी नहीं उस शिक्षक ने कहा क्या कहते हो तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि मैं कह रहा हूँ बारह भेड़े बंद हैं छह बाहर निकल गई उसने कहा वो मैं नहीं समझता गणित मुझे मालूम नहीं लेकिन भेड़ों को मैं जानता हूँ मेरे घर में भेड़े हैं छह भेड़े अगर निकल गई तो भीतर एक भी नहीं बचेगी उसने कहा गणित तो मैं नहीं जानता लेकिन भेड़ों को मैं जानता हूं मेरे घर में भेड़े हैं भेड़ निकल जाएंगी सभी क्योंकि भेड़ होने में अंतर गर्वित है अनुगमन फॉलोइंग दूसरे के पीछे जाना और जो आदमी दूसरे के पीछे जाता है वो अपने भीतर भेड़ की आत्मा को विकसित कर रहा है आदमी की आत्मा को नहीं जो फॉलो करता है जो किसी का अनुयायी है वो मनुष्य नहीं रहा उसने अपनी खोदी गरिमा खो दिया गौरव खो दी आत्मा अनुगमन नहीं किसी के पीछे जाना नहीं बल्कि खुद के भीतर जाना धर्म है किसी के पीछे जाना धर्म नहीं है खुद के भीतर जाना धर्म है और खुद के भीतर जाने के लिए किसके पीछे जाइएगा क्योंकि तो कोई आपके भीतर नहीं जा सकता सिर्फ आप जा सकते हैं धर्म का संबंध अनुगमन फॉलोइंग से नहीं है लेकिन हम तो धर्मों के नाम से यही देखते हैं ये जो इतने फॉलोअर्स सारी दुनिया में हिंदू मुसलमान ईसाई जैन और नए नए खड़े होते जाते हैं ये फॉलोअर्स तो मनुष्य होने के स्वत्व को भी खो देते हैं जो आदमी दूसरे के पीछे जाता है उसने अपनी आत्महत्या कर ली नहीं जाना है किसी के पीछे खोजना है उसे जो मेरे भीतर है और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो अपने भीतर है उसे खोज लेता है वो उसे पा लेता है जिसकी बात राम करते कृष्ण करते महावीर करते वो उसे पा लेता है वो उस परमात्मा पर पहुंच जाता है जिसकी सारी चर्चा है और जो दूसरे के पीछे चलता है वो तो खुद पे नहीं पहुंच पाता परमात्मा पर पहुंचना तो बहुत दूर है वो दूसरे के पीछे भटकता है भटकता है भटकता है खुद तक भी नहीं पहुंच पाता और खुद तक पहुंचना खुदा तक पहुंचने की पहली शर्त है कौन पहुंचेगा स्वयं तक वो जो अंधा होकर अनुगमन नहीं करता आंख खोलकर जीता है इस आंख खोलने के नियम के बाबत हमने इधर तीन दिनों में बात की कुछ और प्रश्न पूछे हैं उनकी मैं चर्चा करूं तो इस प्रश्न के संबंध में आपसे कह दूं सत्य मान्यता नहीं है सत्य विश्वास नहीं है सत्य अनुगमन नहीं है सत्य है स्वयं की खोज सत्य है विवेक और विचार सत्य है अनुसंधान मुक्त और स्वतंत्र इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं कि कितने लोग मानते हैं रूस में 20 करोड़ लोग हैं और उनमें से करोड़ों में से करोड़ों लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है वहां एक बच्चा पैदा होता है वो देखता है बीस करोड़ लोग मानते हैं ईश्वर नहीं वो भी मानने लगता है कि ईश्वर नहीं वो कहेगा कि बीस करोड़ लोग मानते हैं तो क्या गलत मानते होंगे बीस करोड़ लोग मानते हैं तो क्या झूठ मानते होंगे हमारे महापुरुष लेलिन मार्क्स स्टेलिन क्रुश्यो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है तो क्या गलत मानते होंगे इतने इतने बड़े महापुरुष इतना बड़ा देश इतनी बड़ी ताकत 20 करोड़ लोग तो क्या झूठ मानते होंगे तो वो बच्चा क्या कह रहा है क्या वो बच्चा ठीक कह रहा है अगर वो बच्चा ठीक नहीं कह रहा तो आप जो कह रहे हैं वो कैसे ठीक है आप भी गलत कह रहे हैं वो भी गलत कह रहा है ये सवाल ही नहीं है कि क्या मानते हैं आप सवाल ये है कि दूसरों को देख के मानना गलत है उसमें आप अपने को खो देते हैं और मैं तो चूंकि स्वयं की खोज की बात कर रहा हूं इसलिए खुद को खो देने की किसी भी शर्त को मानने को राजी नहीं इसलिए मैंने कहा कि मुक्त हो जाना जरूरी है इसी संबंध में पूछा है कि मैंने कहा ज्ञान से मुक्त हो जाना जरूरी है तो बड़ी अजीब बात है निश्चित ही ज्ञान से भी मुक्त हो जाना जरूरी है किस ज्ञान से जो केवल शब्दों विचारों सिद्धांतों और किताबों से उपलब्ध होता है उसमें कोई प्राण नहीं होते वो एकदम निष्प्राण थोथा बासा उधार बारोद होता है उसमें कोई प्राण नहीं होते वो जीवन को कोई गति नहीं देता वो वैसे ही होता है जिसे एक आदमी तैरने के संबंध में किताबें पढ़ ले बहुत किताबें पढ़ ले दुनिया में जितनी किताबें लिखी हैं पढ़ ले दस पांच भाषाएं सीख ले तो दस पांच भाषाओं में जितनी किताबें हैं वो पढ़ ले पचास साल जिंदगी के खत्म कर दे और तैरने के बाबत दुनिया का सबसे बड़ा विचारक हो जाए और भाषण उसके करवाने हो तो तैरने के बाबत घंटों भाषण कर सके किताबें लिख सके यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान दे सके तर्क कर सके विवाद कर सके लेकिन उस आदमी को जरा सी नदी में पानी में धक्का दे दें तो पता चल जाए कि वो पचास वर्ष में जो जाना था किस अर्थ का है किस कीमत का है किस प्रयोजन का वो ज्ञान था लेकिन तैरना ज्ञान से नहीं आता तैरना तैरने से आता है और तैरना और ही बात है एक फकीर था मुल्ला नसरुद्दीन वो एक नदी पर कुछ दिनों तक माझी का काम करता था छोटी सी नाव थी उसमें लोगों को पार ले जाता था उस गांव का एक बहुत बड़ा विद्वान गणितज्ञ बहुत पुरानी भाषाओं का जानने वाला पंडित वो एक दिन उसकी नाव पर बैठा और नदी के पार गया बीच में सहज ही उसने नसरुद्दीन को कहा तुम गणित शास्त्र जानते हो वो गणित शास्त्र का पंडित था नसरुद्दीन ने कहा नहीं महाराज उस पंडित ने कहा तेरा चार आना जीवन व्यर्थ हो गया फिर थोड़ी बात आगे चली उसने कहा तू धर्म शास्त्र जानता है उसने कहा नहीं महाराज उस पंडित ने कहा तेरा और चार आना जीवन नष्ट हो गया आठ आना बेकार हो गया और थोड़ी बात चली उसने कहा तू दर्शन शास्त्र जानता है उस मल्ला ने कहा नहीं महाराज वो पंडित ठसने लगा उसने कहा तू जीवन बेकार ही करने को उतारू है क्या बारह आना जीवन नष्ट हो गया और तभी उठाया जोर का तूफान नाव डगमगाने लगी तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा पंडित जी तैरना आता है उन्होंने कहा नहीं मुल्ला ने कहा आपका सोलह आना जीवन नष्ट होता है मैं चला मुझे तैरना आता है बारह आना नष्ट हुआ कोई फिक्र नहीं चार आना बचा रहेगा लेकिन आपका सोलह आना नष्ट होता है हुआ नहीं मैं जा रहा हूं जिंदगी में भी किताबें तैरना नहीं सिखाती और न परमात्मा में तैरना सिखाती परमात्मा की नदी में भी केवल वे ही लोग पार होते हैं जो परमात्मा को जीने की कोशिश करते हैं जानने की नहीं जीने से जानना निकल आता है लेकिन जानने से जीना नहीं निकलता जो आदमी जी लेता है वो जान लेता है लेकिन जो जानने में लगा रहता है वो जी तो पाता ही नहीं जान भी नहीं पाता है शब्द इकट्ठे कर लेता है उपनिषद गीता कुरान बाइबल सब उसे कंठस्थ हो जाते हैं लेकिन शब्द तैराते नहीं शब्द नाव नहीं बन सकते शब्द प्राण नहीं बन सकते शब्द बोझ बन जाते हैं उल्टे हल्का नहीं करते आदमी को और भारी कर देते हैं जितना सिर्फ किताबों का बोझ होता है आदमी उतना और छोटा हो जाता है बड़ा नहीं बोझ दबा देता है इसलिए मैंने कहा कि शब्दों से आने वाला ज्ञान साथी नहीं है संगी नहीं है उस ज्ञान को छोड़ देना जरूरी है और जो उस ज्ञान को खोजकर छोड़कर जीवन सत्य के प्रति शांत होकर जीवन सत्य को जीने की दिशा में गतिमान होता है वो जान पाता है एक दिन उस सब को उस सब को जो शब्दों में कहा गया लेकिन कहा नहीं जा सका है उस सब को जो शास्त्रों में बांधा गया लेकिन बंध नहीं पाया उस सब सौंदर्य को उस सब प्रेम को उस सब आनंद को उस परमात्मा को जो सब तरफ मौजूद है वो जान पाता है जो धर्म में तैरना सीखता है उस तैरने की कला पर ही हम इधर तीन दिन तक बात करते थे कि वो कैसे तैरना सीख जाए लेकिन उस सीखने के लिए जरूरी है कि ये सारी बातें जो हमारे चित्त को बांधती हैं छोड़ दी जाए ज्ञान बांधता है ज्ञान से मेरा अर्थ वो ज्ञान जो हम दूसरों से सीख लेते हैं बंगाल में एक फकीर हुआ छोटा उसका एक आश्रम था उस आश्रम में नए नए लोग आते ठहरते ज्ञान लेते एक नया सन्यासी भी आया पंद्रह दिन तक वहां रुका उसने उस वृद्ध सन्यासी की बातें सुनी लेकिन उसे लगा कि उस वृद्ध सन्यासी के पास बहुत बातें नहीं है थोड़ी सी ही बातें हैं रोज रोज उन्हीं को दोहरा देता है पंद्रह दिन में उब जाना युवक का स्वाभाविक था वो तो ऊब उठा और उसने सोचा छोड़ दू इस आश्रम को कहीं और खोजूं ये जगह मेरे लिए नहीं ये गुरु मेरे लिए नहीं ये तो बंधी हुई कुछ थोड़ी सी बातें दोहराता है और बात समाप्त इनको कब तक सुनूंगा और क्या सीखूंगा लेकिन जिस संध्या वो छोड़ने को था उसी संध्या कोई बात घट गई और फिर उस युवक ने वो आश्रम कभी नहीं छोड़ा क्या घट गई उस रात बाद एक और सन्यासी आ गया कहीं से और रात उस आश्रम के अंत्यवासी इकट्ठे हुए वो जो नया सन्यासी आया था उसने दो घंटे तक तत्व की बड़ी गहरी बातें की बड़े सूक्ष्म बड़े बारीक सिद्धांत समझाए जो युवक सन्यासी छोड़ना चाहता था वो भी बैठ के सुनता था उसके मन में हुआ ओह गुरु हो तो ऐसा कितनी गहरी इसकी बातें कितने सूक्ष्म इसके विचार कितनी पैनी इसकी दृष्टि कैसा कुशल इसका तर्क धन हुआ ऐसा गुरु हो इसी के साथ चला जाऊं कल सुबह ठीक मिल गया वो आदमी जिसकी तलाश थी एक ये बूढ़ा है जो कुछ पिटी पिटाई बातें रोज दोहरा देता जिनमें न कोई बहुत सार है न अर्थ सोचा उस युवक ने कि आज इस वृद्ध सन्यासी के मन में कितना ना ग्लानी अनुभव होती होगी अपमान कितना इसकी प्रतिभा हीन हो गई होगी मन ही मन में कितनी हीनता लगती होगी इस सन्यासी की बातें सुनकर कैसा मन ही मन में पछताता और दुखी होता होगा बात पूरी हुई वो नया सन्यासी रुका रुक के उसने सबकी तरफ देखा कि क्या प्रभाव पड़ा है उसने उस बूढ़े सन्यासी से पूछा महानुभाव मैंने जो बातें कही क्या सोचते हैं उस संबंध में वो बूढ़ा इतनी देर तक आंख बंद किए बैठा सुनता था उसने आंख खोली और उसने कहा मेरे मित्र पहली बात तो यही कहनी है कि मैं दो घंटे से सुनता हूँ तुम तो कुछ बोलते ही नहीं बोला मैं नहीं बोलता तो इतनी देर से कौन बोलता था उस वृद्ध ने कहा शास्त्र बोलते थे किताबें बोलती थी तुम नहीं बोलते थे तुम्हारा बोला हुआ एक भी शब्द नहीं है तो तुम कहते हो कि मैंने जो कहा उसका क्या परिणाम हुआ तो पहले तो मैं यही निवेदन कर दूं कि तुमने कुछ कहा ही नहीं परिणाम का सवाल कहा वो जो सन्यासी छोड़ के जाना चाहता था रुक गया फिर कभी उस आश्रम को नहीं छोड़ा उसने ये बूढ़ा क्या बोला ये बोला कि तुम्हारे भीतर से किताबें बोलते हैं तुम नहीं बोलते ऐसा ज्ञान जो कहीं और से आके हमारे भीतर बोलने लगता है किसी भी अर्थ का नहीं उसे छोड़ देना जरूरी है और तब जागेगा वो जो हमारे भीतर छिपा है दो तरह के ज्ञान है एक तो ज्ञान होता है कुएं की भांति और एक ज्ञान होता है हौज की भांति हौज में हम क्या करते हैं मिट्टी लाते ईंट लाते पत्थर इकट्ठे करते दीवार बनाते हौज का घेरा बनाते फिर कहीं से पानी लाके हौज में भर देते हौज में अपना कोई पानी नहीं होता हौज में सिर्फ अपनी ईंटें पत्थर की दीवार होती है हौज में कोई पानी नहीं होता हौज केवल दीवाल होती ईंट पत्थर की घेरा होता है लेकिन कुएं में कुएं में काम उल्टा करना पड़ता है कुएं में सबसे पहले ईंट पत्थर मिट्टी जो कुछ हो उसे निकाल के अलग करना पड़ता है लाना नहीं पड़ता अलग करना पड़ता है हौज में लाना पड़ता है कुएं में अलग करना पड़ता है और जब सारी मिट्टी पत्थर ईंट अलग हो जाते तो नीचे से वो निकल आता है जो जल का स्रोत है कुएं में जल है ईंट पत्थर ऊपर पड़े हैं उन्हें अलग कर देना होता है हौज में जल नहीं है जल लाना पड़ता रोकने के लिए ईंट पत्थर की दीवार बनानी पड़ती ज्ञान भी ठीक ऐसे ही दो तरह का होता है एक हौज वाला ज्ञान होता है जिससे पंडित पैदा होते हैं पंडित ईंट पत्थर इकट्ठा करके दीवार बना लेता अपने दीवार में हिंदू होने की दीवार मुसलमान होने की दीवार वेदांती होने की दीवार फलावादी होने की दीवार सब तैयार कर लेता दीवार फिर जगह जगह से पानी ले आता और अपनी हौज में भर लेता फिर जिसकी हौज जितनी बड़ी वो उतना बड़ा पंडित हो जाता हालांकि सच्चाई ये है कि हौज जितनी बड़ी हो उतनी जल्दी सड़ जाती है और उसका पानी बदबू फेंकने लगता है इसलिए पंडितों पंडितों के मस्तिष्क से जितनी दुर्गंध जीवन में फैलती है और कहीं से फैलती नहीं लेकिन कुएं की बात और है जो आदमी अपने मस्तिष्क से सारी ईंट पत्थर को बाहर निकाल के फेंक देता जो अपने मस्तिष्क की सारी दीवारें गिरा देता जिसके मस्तिष्क पर कोई सीमा नहीं रह जाती मिट्टी पत्थर की सारी परत अलग हो जाती उसके भीतर से आ जाता है वो स्रोत जीवन का जल का ज्ञान का यह है ज्ञानी जो कुएं की भांति अपने भीतर से ज्ञान को ले आता वो है पंडित जो हौज की भांति सब तरफ से ज्ञान को इकट्ठा कर लेता धर्म का पंडित से कोई संबंध नहीं है यद्यपि पंडित सब तरफ से धर्म से संबंधित होने की घोषणा करते रहे धर्म से पंडित का कोई भी संबंध नहीं है ज्ञानी का संबंध हो सकता है पांडित एक कुशलता है ज्ञान एक क्रांति है तो जिस ज्ञान को छोड़ने के लिए मैंने कहा वो हौज वाला ज्ञान है और इसलिए छोड़ने को कहा ताकि कुएं वाला ज्ञान उपलब्ध हो सके जो कुआ बनना चाहते हैं उन्हें हौज अपनी मिटा ही देनी होगी और जो कुआ बनने से रुकना चाहते हैं उनकी मर्जी वो अपनी हौज को और मजबूत बना सकते हैं और ग्रंथ लाके अपनी दीवार खड़ी कर सकते हैं और शब्द सूत्र इकट्ठे करके इतना मजबूत किला बना सकते हैं कि उसके भीतर सूरज की कोई किरण कभी प्रवेश ना कर सके ये चित्त की दशा है इस चित्त के बंधे हुए दशा को मैंने कहा ज्ञान कोई छोड़े तो उसके जीवन में क्रांति आनी शुरू होती एक मित्र ने और एक प्रश्न पूछा है उन्होंने पूछा है जैसा मैंने सुबह कहा मैंने सुबह कहा कि अहंकार छूट जाना चाहिए तो उन्होंने पूछा है ये अहंकार कैसे पैदा हो जाता है यद्यपि मैंने सुबह संबंध में कुछ बातें कही शायद वो ठीक से सुन न पाए हो समझ न पाए हो तो दो बातें उनसे कह देता हूँ एक छोटी सी कहानी कहूँ उससे उनकी बात समझ में आ जाए एक बहुत बड़े राजमहल के निकट पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था कुछ बच्चे वहां खेलते हुए निकले एक बच्चे ने पत्थर उठा लिया और महल की खिड़की की तरफ फेंका वो पत्थर ऊपर उठने लगा पत्थरों की जिंदगी में ये नया अनुभव था पत्थर नीचे की तरफ जाते ऊपर की तरफ नहीं ढलान पर लुढ़कते हैं चढ़ाई पर चढ़ते नहीं तो ये अभूतपूर्व घटना थी पत्थर का ऊपर उठना नया अनुभव था पत्थर फूल के दुगना हो गया जैसे कोई आदमी उदयपुर से फेंक दिया जाए और दिल्ली की तरफ उड़ने लगे तो फूल के दुगना हो जाए वैसा वो पत्थर जमीन से पड़ा हुआ जब उठने लगा राजमहल की तरफ तो फूल के दुगना आखिर पत्थर ही ठहरा अकल कितनी समझ कितनी फूल के दुगनी भजन हो गया ऊपर उठने लगा नीचे पड़े हुए पत्थर आंखें फाड़ के देखने लगे अद्भुत घटना घट गई थी उनके अनुभव में ऐसी कोई घटना न थी कि कोई पत्थर ऊपर उठा हो वे सब जय जयकार करने लगे धन्य धन्य करने लगे हद हो गई उनके कुल में उनके वंश में ऐसा अद्भुत पत्थर पैदा हो गया जो ऊपर उठ रहा है और जब नीचे होने लगा जय जयकार और तालियां बजने लगी और हो सकता है पत्थरों में कोई अखबार नबीस हो जर्नलिस्ट हो उन्होंने खबर छापी हो कोई फोटोग्राफर हो उन्होंने फोटो निकाली हो कोई चुनाव लड़ने वाला पत्थर हो उसने कहा हो ये मेरा छोटा भाई है जो ऊपर जा रहा है कुछ हुआ होगा नीचे वो ज्यादा तो मुझे पता नहीं विस्तार में लेकिन नीचे के पत्थर बहुत हैरान होकर देखने लगे जय जयकार चिल्लाने लगे नीचे की जय जयकार उस ऊपर के पत्थर को भी सुनाई पड़ी जय जयकार किसको सुनाई नहीं पड़ जाती बड़ा मजा है जो जय जयकार कभी नहीं होती वो भी सुनाई पड़ जाती है तो जो होती है वो तो सुनाई पड़ ही जाएगी उसे सुनाई पड़ गई वो और फूलने लगा उसने चिल्ला के कहा कि मित्रों घबराओ मत मैं थोड़ी आकाश की यात्रा को जा रहा हूं उसने कहा मैं जा रहा हूं आकाश की यात्रा को ताकि जान सकूं क्या है रहस्य आकाश का और लौट के तुम्हें बता सकूं गया महल के कांच की खिड़की से टकराया तो पत्थर टकराएगा कांच की खिड़की से तो स्वाभाविक की कांच चूर चूर हो जाए इसमें पत्थर की कोई बहादुरी नहीं है इसमें केवल कांच का कांच होना और पत्थर का पत्थर होना है इसमें कोई कांच की कमजोरी नहीं और पत्थर की बहादुरी नहीं कांच का कांच होना पत्थर का पत्थर होना है पत्थर टकराया कांच चकना चकनाचूर हो गया लेकिन पत्थर खिलखिलाया और हंसा जैसे कि नेता अक्सर खिलखिलाते और हंसते हैं और उस पत्थर ने कहा कितनी बार मैंने नहीं कहा कि मेरे रास्ते में कोई ना आए नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा वो वही भाषा बोला जो राजनीति की भाषा है जो मेरे रास्ते में आएगा चकनाचूर हो जाएगा देखा अब अपना भाग चकनाचूर होकर पड़े हो और वो पत्थर गिरा महल की कालीन पर बहुमूल्य कालीन बिछा था थक गया था पत्थर लंबी उसने यात्रा की थी सड़क की गली से महल तक की यात्रा कोई छोटी यात्रा है बड़ी थी यात्रा जीवन जीवन लग जाते हैं गली से उठते महल तक पहुंचते थक गया था पसीना माथे पर आ गया होगा गिर पड़ा कालीन पर गिरकर उसने ठंडी सांस ली और कहा धन्य धन्य है ये लोग क्या मेरे पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच गई उन्होंने कालीन बिछा रखा है और कितने अतिथि प्रेमी और कैसे स्वागत सत्कार के प्रेमी महल बना के रखा मेरे लिए क्या पता था कि मैं आ रहा हूं ठीक जगह खिड़की बनाई जहां से मैं आने को था ठीक ठीक सब किया कोई भेद ना पड़ा एक इंच में चूका नहीं जो मेरा मार्ग था आने का वहां खिड़की बनाई जो मेरा मार्ग था विश्राम का वहां कालीन बिछाए बड़े अच्छे लोग हैं और ये वो सोचता ही था कि राजमहल के नौकर को सुन पड़ी होगी आवाज टूट जाने की कांच की वो भागा हुआ आया उसने उठाया पत्थर को हाथ में पत्थर तो पत्थर तो हृदय गदगद हो उठा उसने कहा गया मालूम होता है मकान का मालिक स्वागत में हाथ में उठाता है प्रेम दिखलाता है कितने भले लोग और फिर उस नौकर ने पत्थर को वापस फेंका तो उस पत्थर ने मन में कहा वापस लौट चले घर की बहुत याद आती होम सिकनेस मालूम होती वो वापस गिरने लगा अपनी ढेरी पर तो नीचे तो आंखें फाड़े हुए लोग बैठे थे उनका मित्र उनका साथी गया था आकाश की यात्रा को चंद्र लोग गया था वो लौट कर आया था वो गिरा नीचे फूल मालाएं पहनाई गई कई दिन तक जल से चले कई जगह उद्घाटन हुआ और न मालूम क्या क्या हुआ और उन पत्थरों ने पूछा कि क्या क्या उसने अपनी लंबी कथा कही मैंने ये किया मैंने ये किया मेरा ऐसा स्वागत हुआ ऐसी ऐसी जगह मेरा सत्कार हुआ इतने इतने शत्रु मरे कई चीजों का गुणनफल किया उसने एक कांच मारा था कई कांच बताए एक महल में ठहरा था कई महलों में ठहरा हुआ बतलाया एक हाथ में गया था अनेक हाथों में पहुंचने की खबर दी जो बिल्कुल स्वाभाविक है आदमी का मन आदमी का मन जैसा करता तो पत्थर का मन तो और भी ज्यादा करेगा और तब उसके पत्थरों ने कहा मित्र तुम अपनी आत्मकथा जरूर लिख दो हमारे बच्चों के काम आएगी ऑटोबायोग्राफी तो लिखो क्योंकि सभी महापुरुष लिखते हैं तुम भी लिखो वो लिख रहा है जल्दी लिख लेगा तो आपको पता चलेगी खबर हो जाएगी क्योंकि उसके पहले भी और पत्थरों ने लिखी है और उनको आप अच्छी तरह पढ़ते रहे वो भी लिखेगा उसकी भी पढ़ेंगे इस पत्थर पर आपको हंसी क्यों आती है इस बेचारे में कौन सी खराबी है ये आदमी से कौन सा भिन्न है और इस पत्थर पर आप हंसते हैं तो कभी अपने पर हंसे हैं इस पत्थर की इस बात को सुन के आप हंसते हैं कि मैं जा रहा हूं यात्रा को लेकिन हम खुद क्या है क्या हम भी किन्हीं अनजान हाथों के द्वारा फेंके गए पत्थर नहीं हमें पता है हम क्यों जन्म लेते हैं हमें पता है हम कैसे पैदा हो जाते हैं हमें पता है कौन हमें फेंक देता कौन अनजान ताकत कौन अनजान हाथ कौन अपरिचित फेंक देता जीवन में लेकिन हम कहते हैं मेरा जन्म मेरा जन्मदिन है आपसे पूछा था किसी ने कि आप किस जन्मदिन पैदा होना चाहते हैं आपसे कोई तारीख तिथि कोई पूछी थी कि आप कब पैदा होना चाहते हैं जो आप कहते हैं मेरा जन्मदिन आपका कोई निर्णय है इसमें आपकी कोई च्वाइस आपसे किसी ने पूछा था आप पैदा भी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते ना आपसे किसी ने पूछा कि आप पैदा होना चाहते हैं न पूछा दिन न कोई तारीख लेकिन कहते हैं मेरा जन्मदिन ये मेरा बड़ा अजीब है कहते हैं मेरी जवानी आप ले आए इस जवानी को यह आपके हाथ का कोई काम है यह आपका प्रत्न है कोई कि आप जवान हो गए क्या आप चाहते कि जवान न हो तो आप रुक जाते जवान होने से नहीं लेकिन कहते मेरी जवानी ये मैं कहा आ गया इस जवानी में कहते मेरी जिंदगी क्या है जिंदगी आपकी कौन सी चीज आपकी है इस जिंदगी में कहते हैं मेरा शरीर क्या है आपका इसमें इस शरीर में मेरे जो जो कण है न मालूम कितने शरीरों में रह चुके मुझसे पहले न मालूम इन कणों ने न मालूम कितने शरीरों में की यात्राएं पशुओं में पक्षियों में पौधों में रोज अन्न खा रहे हैं वो आपके शरीर में जाके आपका हिस्सा बन रहा है लेकिन कल तक किसी पौधे का हिस्सा था किसी पौधे का शरीर था जो श्वास में ले रहा हूं कहता हूं मेरी श्वास यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं जो आप श्वास अभी ले रहे हैं वो आपके पड़ोसी बहुत थोड़ी देर पहले ले, ले चुके हैं वो अब आपको मिल गई थोड़ी देर बाद दूसरे को मिल जाएगी आपका क्या है आप कहा आते हैं कहते हैं मैं लेता हूँ श्वास लेकिन आपको पता है अगर श्वास ना आएगी तो आप ले सकेंगे आप मालिक हैं श्वास के नहीं जिंदगी फेंके हुए पत्थर की कथा है लेकिन हम हर काम से अपने मैं को जोड़ लेते हैं जो बिल्कुल झूठा है जिसकी कोई जगह नहीं जो बिल्कुल सब्सटेंशियल नहीं है जिसका कोई पदार्थगत कुछ भी सत्ता नहीं है जो है बिल्कुल सैडो है छाया की भांति झूठा उस पत्थर की कथा पर हंस गए थे अपनी जिंदगी को थोड़ा उसकी जगह रख के सोच लेना तो पता चल जाएगा अहंकार कैसे पैदा हो गया है तो मैं इसमें क्या कहूँ कि कैसे पैदा हो गया है थोड़ा खोज लेना तो पता चल जाएगा कि ना समझी है भूल है ख्याल है छाया है सत्य कुछ भी नहीं है उस अहंकार में और ये दिख जाए तो अहंकार छोड़ना नहीं पड़ता है ये दिख जाए तो अहंकार गया अगर उस पत्थर को ये दिख जाए कि वो कैसी ना समझी की बातें कह रहा है तो बात खत्म हो गई फिर और कौन सी कथा रह गई तो जिस आदमी को अपने जीवन पर थोड़ी भी दृष्टि है और जो अपने जीवन की कथा को थोड़ा आंकता है देखता है खोजता है वो अनुभव कर लेता है अहंकार से ज्यादा असत्य और कुछ भी नहीं और जो ये जान लेता है कि अहंकार असत्य है इसके साथ ही इसके साथ ही तत्क्षण वो ये भी जान लेता है कि परमात्मा सत्य है परमात्मा का सत्य होना अहंकार के असत्य होने के सिक्के का दूसरा पहलू है जिसने ये जान लिया अहंकार असत्य है उसने ये भी जान लिया कि परमात्मा सत्य है और जो ये समझता है अहंकार सत्य है वो अनिवार्य रूप से ये भी जानता है परमात्मा असत्य है तो जब तक अहंकार है भीतर तब तक करो पूजा करो प्रार्थना पढ़ो मंत्र तंत्र और जो भी उल्टा सीधा करना हो करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो सकता वो अहंकार बाधा है वो अहंकार पूजा को भी पी जाएगा अपना भोजन बना लेगा कि मैं पूजा करने वाला हूँ वो प्रार्थना को भी पी जाएगा और अपना भोजन बना लेगा और कहेगा मैं प्रार्थना करने वाला हूँ तुम प्रार्थना करने वाले हो मैं हूं असली प्रार्थना करने वाला इस गांव में वो अहंकार सब पी जाएगा और हर चीज को अपने आसपास जोड़ लेगा और कहेगा मैं इससे मजबूत हो रहा हूं इसलिए धर्म की सबसे बुनियादी और आधारभूत क्रांति अहंकार के विसर्जन से प्रारंभ होती है और परमात्मा की उपलब्धि पर समाप्त होती है इस अहंकार के विसर्जन के लिए बहुत कुछ मैंने आपसे सुबह बातें की लेकिन ये कैसे पैदा होता है या आप अपनी जिंदगी को खोजना तो आपको दिख जाएगा और मेरे कहने से तो दिखने का कोई संबंध नहीं इसलिए मैंने एक कहानी कह दी और इस संबंध में कुछ भी नहीं कहूंगा मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा आप देखेंगे तो दिख सकता है जो असत्य है उसकी असत्यता को देख लेना कोई कठिनाई नहीं हम देखना ही न चाहें तो बात दूसरी है और हम देखना नहीं चाहते और देखना हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि गहरे मन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि देखा कि ये गया इसलिए देखो ही मत आंखें मूंदे रहो और चलते जाओ इसलिए पूछो सबसे ऐसा एक दफा हुआ रविन्द्रनाथ ने एक गीत लिखा गीत लिखा कि हे परमात्मा मैं तुझे खोज रहा हूं बहुत बहुत वर्षों जन्मों से मेरी खोज चलती तेरे लिए अनेक बार थोड़ी बहुत तेरी झलक मिली और फिर तू खो गया लेकिन एक बार मैंने तय कर लिया कि तुझे अब खोगा नहीं और मैं तेरा पीछा ही करने लगा आखिर एक सुबह मैं तेरे दरवाजे पे पहुंच गया मैं तेरी सीढ़ियां चढ़ गया मैंने तेरे द्वार की कुंडी अपने हाथ में ले ली और मैं बजाने को ही था कि मुझे ख्याल आया कि कुंडी बज जाएगी और तू निकल आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा तू मिल जाएगा फिर मैं क्या करूंगा मैं बहुत डर गया फिर मैं क्या करूंगा अब तक तो तुझे खोजता था ये काम था अब तक तो तुझे खोजता था ये व्यस्तता थी अब तक तो तुझे खोजता था रोता था प्रार्थना करता गीत लिखता था इसमें उलझा था लेकिन तू मिल जाएगा तो फिर क्या करूंगा फिर अनंत अनंत काल तक करूंगा क्या तो मैं डर गया मैंने कुंडी वापस छोड़ दी और मैं धीरे धीरे